بسم الله الرحمن الرحيم قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح कहते हैं मैंने गुजश्ता ज़माने में उस ज़माने में जो गुजर चुका तलखीसुल मिफ्ताह की शराह की थी तलखीसुल मिफ्ताह की मुसनफ़ ने पहले एक शराह की थी और उसका नाम रखा था मुतवल और जो मुतवल थी वो मुतवल ही थी यानी बड़ी तवील थी और उसके अंदर इन्होंने बड़ी बारीकियाँ और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहसें की और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहसें करना बड़ी बारीकियाँ बयान करना ये मुसनफ़ के कमाल की बात है कोई तो ऐब की बात नहीं है कि मुसनफ़ के कमाल की बात है कि मुसनफ़ इससे आला इल्म वाले थे कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर इस तरह की बारीकियां और मुफसल बहस फरमाई थी लेकिन आगे फरमाते हैं वागनई तू बिलबाही और मैंने उसको यानी तलखीसल तलखीसमफ्ताह को बिल इसबाही इसबाह सुबह के माना में मुराद मुतवल सुबह के ज़रिए अनिल मिसबाही चिरागों से बेनियाज कर दिया था यानी मैंने तलखीस मफ्ताह को किससे मुतवल के ज़रिए दीगर शुरुआत से बेनियाज कर दिया था कि जब ये मेरी मुतवल आ गई तो अब दीगर शुरुआत की कोई ज़रूरत न रही जिस तरह जब दिन निकल जाता है और सुबह की रोशनी हो जाती है तो उस वक्त में चिरागों की कोई ज़रूरत नहीं रहती और चिराग कोई काम नहीं करते अबकारी और मैंने उसमें वदियात रखा था यानी जिक्र किया था क्या कराइबा नुकतिन समाहत भी रमजाब ऐसे गरीब नुकतों को ऐसी बारीक नुकतों को ऐसे अजीब नुकतों को कि समाहत दिल अंजारू जिसकी मेरी नज़रों ने सखावत की थी जिसकी मेरी नज़रों ने सखावत की थी मैंने उस शराह के अंदर ऐसी अनोखी बातों को पदयात रखा था कि जिनकी मेरी नज़रों ने सखावत की थी मेरी नज़रों ने किसका तर्जमा हो रहा है अल अंजार यहाँ पर जो अलिफ्लाम है ये मुजाफिले के एवज में मुजाफिले क्या था अंजारी याए मारूफ जो मुजाफिले थी उसको हजफ करके अलिफ्लाम दाखिल कर दिया मुजाफिले के एवज में तो अलिफ्लाम दलालत कर रहा है कि यहाँ पर गाफिल है समाहत बिल अंजारू जिनकी मेरी नजरों ने सफावत की थी वह और मैंने उसको मुजयन किया आरास्ता किया उन लतीफ़ फ़िक्रों से उन लतीफ़ फ़िक्रों से उन उमदा फ़िक्रों से जिनको मेरी फ़िक्रों के हाथों ने ढाला था जिनको मेरी फिक्रों के हाथों ने डाला ढाला था मेरी फिक्रों के हाथों ने अब मेरी यहाँ पर किस चीज़ का तर्जुमा हो रहा है मेरी फिक्रों के हाँ, अलिफ लाम ये मुजाफिल के अवज में असल था क्या यदु अफकारी मेरी फिक्रों के हाथ तो यहाँ पर मुजाफिले को या मुतकल मुजाफिले को हज करके अलिफ लाम उसके अवज में दाखिल कर दिया है ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجم الغفير من الأذكياء अब आगे फरमाते हैं कि जब मुतवल मैंने लिख दी और इसके अंदर ऐसे ऐसे नुकते और अजीब अजीब अजीब और अनोखी बातें इसके अंदर मैंने जिक्र की थी और बड़ा उसको मुजयन किया था इन्होंने ये कहा था कि मेरी फिक्रों के हाथों ने उसको डाला था यानी वो सब मेरी सोच का नतीजा थे जो मैंने उन किताब के अंदर लिखे थे ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से किसी की किताब से इबारत उठाकर अपनी किताब के अंदर शामिल कर दी हूँ अब आगे ये कहते हैं कि बहुत सारे फुजाला और जहीन लोगों की जमात मेरे पास आई और वो मुझसे ये बात तलब करने लगी मुझसे दरख्वास्त करने लगी कि तुम अपनी हिम्मत को खर्च करो अपनी हिम्मत को फेर किस बात तरफ इस किताब के मुतवल के मुख्तर करने की तरफ कि तुम इस किताब को मुतवल को मुख्तर कर दो और बस इसके अंदर इतना काम कर दो कि तलखीस मफ्ताह को सामने रख कर इसकी शरह लिख दो और उसमें उसके मानी पर इक्तफा कर लो और उसकी जो पोशीदा बातें हैं उनको जाहिर कर दो उसी को कहते हैं फुजलाई फजलाई फिर मैंने बहुत से फजला को देखा वलजमल गफीरा मिनल अजियाई और जहीन लोगों के बड़ी तादाद को बड़े हजूम को देखा कि वो मुझसे तलब कर रहे हैं यसअलूननी सरफल हिम्मती नहवक्त सारी कि वो मुझसे हिम्मत के फेरने को उसके इख्तार की तरफ तलब कर रहे हैं सवाल कर रहे हैं वलसार आला बयानी मानी ही और उसके मानी को बयान करने पर इतफा करने की तरफ वो मुझसे सवाल कर रहे हैं मुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं खासतन के माना चाहना दरख्वास्त भी क्या होती है वही चाहत होती है तलब के माना भी चाहना और दरख्वास्त के माना भी चाहना और सवाल के माना भी कोई चीज़ मांगना कोई चीज़ चाहना तो इसके माना ये भी कर सकते हैं और वो वलफ्तार अला बयानी मानी और उसके मानी के बयान करने पर बयान करने बयान करने पर इतफा करने की वो दरखास्त कर रहे हैं वकश की अस्तारी ही और उसकी पोशीदा और उसकी पोशीदा बातों को खोलने की तरफ क्या कर रहे हो हिम्मत के फैलने की मुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं क्या आप जो है इसको मुख्तर कर दो इसके मानी को खोल दो और इसकी पोशीदा बातों को क्या कर दो वाजह कर दो ऐसा क्यों ये की और फजला की और अजकिया की जमात कह रही थी उसकी वजह और इल्लत आगे बयान की जा रही है बीमा शाहदू से क्योंकि ये उलमा इस बात को मुशाह कर चुके थे ये बात जान चुके थे कि जो तलबा हैं इस इल्म को हासिल करने वाले हैं उनकी हिम्मतें पस्त हो चुकी हैं हती के यहाँ तक उनका हाल था जो उसके अनवार मजामी थे उसके वाज मजामी थे उस पर मुतला होने से भी उनकी मदद सुस्त हो रही थी और वो उनको भी मुश्किल समझ रहे थे और उनके इरादे जो इसके अंदर मुसनफ़ रहमान ने पोशीदा बातें रखी थी जिनका खोलना ज़रा मुश्किल सा था तो उससे इनके इरादे जो है बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ गए थे इस वजह से कहते हैं कि ये ओलमा फजला मेरे पास आए और आकर मुझसे ये दरख्वास्त करने लगे कि तुम इसको मुख्तर कर दो क्योंकि इस वजह से के वो मुशाहदा कर चुके थे इस बात का के हासिल करने वाले इल्म बलागत को यानी तलाबा की हिम्मतें उसके पुरानवार मजामी पर मुतला होने से तकासरत आजिज आ गई है फासिल हो गई है आजिज आ गई है फ़तक़ादत अज़ाइम अनस्तकशाफ़ खबियात असरारी और उनके इरादे उनके अज़ाइम उसके पोशीदा असरार उसकी पोशीदा बातों को खोलने से उसके पोशीदा रातों को खोलने से क्या हो गए हैं दुरुस्त पड़ गए हैं तकाउ बैठ जाना बैठ गए हैं और जब आदमी दुरुस्त हो जाता है किसी काम से तो क्या हो जाता है एक तरफ को बैठ जाता है तो उनके इरादे क्या हुए हैं सुस्त पड़ गए हैं और उनके इरादे उसके पोशीदा राजों को खोलने से सुस्त पड़ गए हैं एक बात और दूसरी वजह ये बयान कर रहे हैं कि कलाम चोर वो भी इस चक्कर में लगे हुए थे कि ये जो इनकी किताब है इनकी किताब से ये इबारत उठाकर और अपनी एक किताब तैयार करके और उसको बाजार में निकाल दो लोगों को दे दो तो ये कलाम चोर क्या करते किताब से मेरी किताब से जो है चोरी कर रहे हैं इसके अंदर एक लफ्ज आया है देखो वनल मुंतलिन कद अफदी और इंतहावी और ये के कलाम चोर अफजो इंतहाब छीन झपट की पुतलियां अहदाक हदाकतन की जमा है पुतली कहते हैं जो आंख के अंदर काली काली होती है ये सफेद सफेद होती है काली वाले को कहते हैं कि छीन झपट की पुतलियां वो फिरा रहे हैं वो वमदू आना पर मस्त आला किताब और वो उस किताब पर मस्त की गर्दने दराज किए हुए हैं लोग इस किताब पर मस्त की गर्दने दराज किए हुए हैं अब ये क्या कर रहे थे कलाम चोर के उनकी किताब से बात लेकर और उसको उसको जो अपनी किताब के अंदर लिख रहे थे थोड़ा बहुत तब्दीली वब्दीली करके जैसे शुरुआत के अंदर बहुत से लोग करे हैं मस्ख कहते हैं आला सूरत से बदल कर अदना सूरत में किसी चीज को मुंतकिल कर देना मेरी किताब वो तो बड़ी आला है और ये उसको बदल कर क्या करते हैं अपना सूरत के अंदर तब्दील कर देते हैं इस वजह से लोगों ने मुझसे कहा कि आप जो है इसके मुतवल की मुख्तर लिख दो मद्दु आनाकल मस्त मस्तकी का गर्दन दराज किए हुए हैं जब इंसान किसी चीज़ के अंदर गौर फिक्र करता है और उसकी तरफ मुतवजह होता है तो वो अपनी गर्दन को क्या करता है दराज बनता है और लंबी करता है है ना देखा असलम या देखिए क्या लिख रहा आए को तो हो थोड़ा और आए तो को इधर को इधर को इधर हाँ। देखो गर्दन लंबी की क्या इसने हम्म? देख देख लिया तो जब आदमी किसी की बात लेना चाहते हैं या कोई किसी चीज की तरफ मुतवजह होता है तो क्या करता है उसको बड़ी गर्दन को ज़रा लंबी सी करता है तो ऐसे यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने और उस किताब पर वो मस्त की गर्दन दराज किए हुए हैं यानी उस किताब में से ढूंढ ढूंढ के और जो है उसमें से उसको रद्द बदल करके आला से अदना बनाकर वो लिखना चाह रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं आगे फरमाते हैं ये तो वजह वकुन तो अजरिब अनहाद अल खतुबी सफहन व असली दून मराम कशहन इलमन मिलनी और मैं इस अम्र से इस अजीम काम से अजरिबू अन कस्बी सफहन एराज करता रहता था सफहन सफहा इसके माना भी एराज करने के होते हैं और जब जराबा का सिला अन आ जाए तो उस वक्त में क्या माना होते हैं एराज करने के होते हैं तो इसका पूरे का माना करेंगे वकुन तो अजरिबान हादल खतबी सफहन और मैं इस अम्र अजीम से आराज करता रहता था व असवी दून मरामिहिम कशन और मैं उनके पहलू के वरे क्या पहलू और मैं उनके मकसूद के वरे मराम के मन मकसूद मकसद और मैं उनके मकसूद के वरे ही पहलू तही करता रहता था पहलू तही यानी पहलू को मोड़ना पहलू को लपेटता रहता था पहलू तही करता रहता जैसे कोई आदमी किसी से कोई बात कहे अब वो उसको करना चाह रहा हो तो क्या करते हैं थोड़ा सा ये मुड़ने लग जाते अब ये कह रहे हैं मुझसे कोई बात अब मैं इसकी तरफ तवज्जो दूंगा नहीं तवज्जो नहीं देकर क्या करूंगा ये करूंगा तो ये पहलू है होता है पहलू अब पहलू को क्या करूँगा मोड़ लूंगा अब कह रहा है ओ जरा ये काम अब मैं जब यूँ नहीं देखूंगा तो यूँ करूंगा तो क्या होगा एराज होगा तो मैं पहलू तय करता रहता था यानी एराज करता रहता था क्यों करता था एराज मुतवल लिख दिए तो मुख्तसर भी लिख देते वजह यह है इल्मन मिन्नी इल्मन मिन्नी بأن مستحسن الطبائع بأسرها ومقبول الأسماء عن آخرها मेरे इस बात के जानने की वजह से के तमाम तबीयतों का पसंदीदा काम करना मुस्तहसन ऐसा काम जो तमाम तबीयतों को पसंद आ जाए तमाम तबीयतों को पसंद का पसंदीदा काम करना और तमाम कानों का मकबूल काम करना ऐसा काम जो तमाम कानों को मकबूल हो सबको अच्छा लगे सबके कानों को वो समा जाए अच्छा लगे लमरुन लाहू मकदरतुलबशर ऐसा काम है जिसकी इंसानी कुदरत गुंजाइश नहीं रखती जिसकी इंसानी कुदरत वो साथ नहीं रखती इंसान की कुदरत इंसान की ताकत इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं रखती है वाइन नमा हुआ शान खालिकुवावलकुदर और ये तो सिर्फ कुतों वाले और कुदरतों वाले कुतों और कुदरतों के खालिक की शान है कुतों और कुदरतों के पैदा करने वाले की शान है का हाल है अब देखो यहाँ आन आखिरी हा इसके माना क्या होंगे इसके माना होंगे तमाम तमाम किस तरह हो रहे माना यानी यहाँ पर असल है इसकी अन अवलिहा इला आखिरिया शुरू से उसके आखिर तक उसके शुरू से उसके आखिर तक तो शुरू से आखिर तक क्या होता है तमाम होता है तो यहाँ पर इस तरह से तमाम के माना हो जाएंगे वअन हादल फन्ना कद नजबल यौम माऊ फसारा जिदालन बिला असरिन और ये के देखो अक्स किस पर हो रहा है इसका बेअन्न मुस्तकल तबा है मेरे इस बात के जानने की वजह से कि तमाम तबियातों को और यहाँ पर अब दूसरी वजह बता रहे और इस मेरे इस बात के जानने की वजह से कि अन्ना हाल कन्ना के इस फन का पानी बद नजबल यौम माऊ आज खुश्क हो गया है इस फन का पानी आज खुश्क हो गया है फसारा जिदालन बिला बस ये बिला फायदा बेफायदा झगड़े का महल बन गया है देखो नीचे लिखा हुआ है महल्ला जिदालिन झगड़े का महल बन गया है क्या मतलब यानी इस फन का पानी आज खुश्क हो गया आज का मतलब वो अपने ज़माने को बोल रहे हैं कि इस ज़माने के अंदर इस फन का पानी खुश्क हो गया है यानी ये इल्म ख़त्म होता जा रहा है बस अब क्या रह गया है कि बहस करते हैं बहस मुबाहसा करते हैं और उन्हीं की बहस बहसें और उन्हीं की झगड़े रह गए हैं बाकी इस पन को जानने वाले वो ख़त्म हो गए हैं ये कब की बात कर रहे हैं अपने ज़माने की और अब तो वजह और उसकी शादाबी चली गई है उसकी रौनक ख़त्म हो गई है फ़ादा खिलाफन बिला समरिन पस वो बिला फ़ायदा बेफ़ायदा इख्तिलाफ बनकर रह गया है आधा आई सारा नीचे लिखा हुआ है चलिए हत्ता तारत बकीयत अदराज यहाँ तक के सलफ़ के बकिया आसार हवाओं के रास्ते उड़ गए और वसालत के माना बहने के और उन बातों की सवारियों की गर्दनों के साथ नाले बेह पड़े उन बातों की यानी इसी फल की और उन बातों की सवारियों की गर्दनों के साथ नाले बेह पड़े दरिया बेह पड़े क्या मतलब यानी ये कहते हैं कि जो हमारे असलाफ थे उनके जो बकिया आसार थे वो तो हवाओं के रास्ते उड़ गए यानी ख़त्म ही हो गए और कैसी तेज़ी के साथ ख़त्म हो गए कि उनकी उन बातों की सवारियों की गर्दनों के साथ नाले बह पड़े दरिया बह पड़े जैसे दरिया होते हैं बारिश आती है और बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ बहता है तो ऐसी इसकी रौनक और इसकी शादाबी और ये जो सब बातें हैं फन बलावत की वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं और वो लोग भी ख़त्म हो चुके हैं ये बात भी मुझे मालूम थी और वो बात भी मुझे मालूम थी अब आगे एक बात ये फरमाते हैं कि चलो चोर चोरी कर रहे थे मेरे कलाम को तो चरा रहे थे लेकिन उनका मेरे कलाम में से कलाम लेना और मेरी किताब में से कलाम को नकल करना और चुराना ये तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात मेरी खुश होने की बात है क्योंकि अकलमंद आदमी वो इन बातों से खुश होता है किस तरह से है तो समझना पड़ेगा मैंने एक किताब लिखी मुतवल अब ये क्या कर रहे हैं कि उस मुतवल में से तो बातें ले रहे हैं बातें ले रहे हैं तो बातें लेकर अपनी किताब में नकल कर रहे हैं ठीक है अब ये जो मेरी किताब है इसका मतलब वो बहुत अच्छी किताब है और उसके लिखने वाला बड़ा अकलमंद है उसके लिखने वाला बड़ा अकलमंद है बड़ा आकिल है और वो किताब बड़ी अच्छी है जब तो वो चुरा रहे हैं किताब अच्छी ना होती तो, तो क्यों चुराते तो इसलिए मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि मेरी किताब से लोग क्या कर रहे हैं अपना मतलब और मकसद पूरा कर रहे हैं अपना मतलब सीधा कर रहे हैं तो उसी को कहा इन्होंने और बहरहाल अखज इंतहाब जो लेना चोरी करना और इंतहाब लूट खसोट करना डकेती डालना और बहरहाल लूट खसोट चोरी डकेती फ़मर अथवा ऐसा अम्र है यरताबीबू जिससे अकलमंद खुश होता है अकलमंद कौन है चोरी चोरी करने वाला है ना कौन लिखने वाले अलामा तो इनको खुशी क्यों होगी समझ आई ना बात इनका कलाम ले रहे हैं लोग अपना मकसद पूरा कर रहे हैं यानी मेरा कलाम बड़ा मकबूल है फलिन फलिल अर्जी मिनका असिल किराम नसीबू अपनी बात को पक्का करने के लिए यहाँ पर एक बात कह रहे हैं बस जमीन के लिए सखी लोगों के जाम से जाम गिलास का सुन लबालब भरा हुआ जाम शराब लब लब लब के माना हॉट के किनारे पर होता है लबालब भरा हुआ यानी किनारे तक भरा हुआ अच्छी तरह से भरा हुआ फलिल आजिम इनकातिल किराम नसीब हो बस शरीफ लोगों के जाम दे नसीब जमीन के लिए भी हिस्सा होता है शरीफ लोगों के जाम से ज़मीन के लिए भी हिस्सा होता है ये एक शायर है बल्कि कई मिसरे हैं जो हाशिए के अंदर दिए गए हैं दो नंबर हाशिए में देखो कहीं है कुछ शरीबना शराबन तयबन इंदा तय्यबिन मिला तर्जमा करो भी नहीं तो कभी नहीं कभी सही सही शरीबना शराबन तयीबन हमने उमदा शराब पाकिजा शराब पी कहा इंदा तयीबिन पाकिजा शख्स के हमने पाकिजा शराब पी पाकिजा शख्स के पास कदाली का शराब तयीबीना यतीबू ऐसे ही पाकिजा लोगों की शराब क्या होती है पाक होती है पाकिदा लोगों की शराब जो है वो पाकिदा ही होती है और क्या करा हमने शरीबना व अरजी जुरातन हमने पी भी व अल अलअरजी जुरातन और एक घूट हमने ज़मीन पर भी बहा दिया वलिल अरजी मिन कासिल किरामी नसीबू और ज़मीन के लिए सखी लोगों के जाम से क्या होता है हिस्सा होता है असल से तो ये पूरा शेयर ये था उसमें से एक टुकड़ा ले लिया गया शहर के अंदर क्या है वलील अर्जी लेकिन यहाँ पर क्या लेकर आए फलील अर्जी क्योंकि यहाँ अपनी पीछे वाली बात की अम्मा लफ्जुल इम्तिहाज जो इन्होंने बात जिक्र की है या साहबी लबीब इसकी इल्लत बयान करना है इस इल्लत की वजह से इन्होंने यहाँ पर वाव की जगह फा को लगा दिया और फा इल्लत के लिए आता है क्योंकि जमीन क्योंकि शरीफ लोगों के जाम से सखी लोगों के जाम से जमीन के लिए भी हिस्सा होता है अभी किस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि सखी आदमी जो होता है वो सखावत करना चाहता है माल खर्च करना चाहता है अब कोई नहीं तो हमने क्या करा कि उसमें से पी तो हमने खुद भी और उसमें से जो गुण जमीन पर भी डाल दिया कि कोई नहीं है तो ले जमीन तेरे लिए सखाव तो ऐसे ही यहाँ पर ये तस्वीर है जमीन अर्ज से तस्वीर दी है उन चोरों को कलाम चोरों को ठीक है और कास से मुराद पिंकी मुतवल ठीक है कि वो लबालब भरी हुई यानी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब है और बहुत ज़्यादा उसका रमद कलाम है कि राम सखी सखी से मुराद यही अलामा तफ्तानी के सखी लोगों के जाम से ज़मीन के लिए भी हिस्सा होता है इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पर चोरों के लिए कलाम चोरों के लिए सादुद्दीन तफ्तानी के मुतवल से एक हिस्सा होता है अरे आई समझ बात तो इस तरह से इसको समझो है ना चलो हिस्सा होता है वही यानी उसका उनका कलाम कुछ ले लिया जाता है वकैफा युनहरू अनिल अनहारी सा और यू नहरू अनिल अनहार अनहार नहरों से दरियाओं से और नहरों से सवाल करने वालों को कैसे रोका जा सकता है युन ला तनहर मत झड़क नहीं झिड़का जा सकता है यानी नहीं रोका जा सकता है वकई फयुन हरू अनिल अनहारी साइलूना और नहरों से सवाल करने वालों को कैसे रोका जा सकता है ये जो नई किताब है तो नहर की तरह है अब कोई नहर पर आए पानी लेने के लिए तो थोड़ी कह दी जाएगा कोई पानी मत ले तो किताब है और इसकी मिसाल से तो नहर की तरह दरिया की तरह है कि कोई आएगा तो इसमें से वो ले लेगा उससे तो किस तरह मना किया जा सकता है वली मिसबिहारा और इस जैसे काम के लिए काम करने वालों को काम करना चाहिए यानी मुतवल की मुख्तर लिख देनी चाहिए तो ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं तो ये मतलब अपनी बात को बहुत ज़्यादा मुदल अंदाज में पेश करना चाह रहे हैं जिसके लिए अशार के टुकड़े वगैरह लेकर आ रहे हैं और कुरान करीम की आयत का हिस्सा भी लेकर आए हैं अरे आई बात आगे तुम्मा से जो है इस बात को बता रहे हैं कि मैं मना करता रहा करता रहा जैसे मैं मना करूं उतनी ज़्यादा उनकी प्यास और जो है बस गर्मी की तो बहर और बड़ा बुरा हाल उनका हो गया बस आखिर ये हुआ कि मैंने दोबारा से कलम अपना उठा ही लिया चलिए